गई इन हे ईश्वर हमारे मित्रों की रक्षा कर दूसरी बात कही गई कि जो सच्चे स्तुति करने वाले हैं से भाषण करने वाले उनकी रक्षा करो हम जो ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे मित्रों की रक्षा करो समय सफल होती है जबकि हम वस्तुतः अपने मित्रों की अपनी आत्मा की तुल्य रक्षा करते हैं प्राय व्यक्ति इस बात में विफल होता है कि अपनी आत्मा के तुल्य वो अपने मित्रों का भी भला नहीं चाहता आत्मनिरीक्षण से पता चल सकता है हम जिसको मित्र कहते हैं उस मित्र का उतने स्तर पर हम भला नहीं करना चाहते जितना अपने आप का करना चाहते यद्यपि इस बात का अभाव नहीं है वो कोई लाखों में कोई एक व्यक्ति हो अलग बात जो इस स्तर पर पहुंचा हो स्वयं कष्ट उठा करके भी अपने मित्र की रक्षा करना चाहता है ये उसकी स्थिति यद्य यद्यपि ऐसा है तो वो व्यक्ति अधिकारी बन गया कि हे ईश्वर हमारे मित्रों की रक्षा करो ईश्वर हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता ईश्वर हमारी सहायता क्यों नहीं कर पाता ईश्वर का एक नियम है कि प्रथम हम उस विषय में पूर्ण पुरुषार्थ करें पूरी मेहनत करें पूरा प्रयास करें और फिर परमात्मा की प्रार्थना करनी ऐसा करने से निश्चित रूप न ईश्वर अपने नियमानुसार हमारी सहायता करेगा आप एक वाक्य बोलते हैं सर्वे भवंतु सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पशुपति मां कश्चित सुख अच्छा अपने हृदय को टिटोलो कि आप ऐसा चाहते हैं या बोलते हैं प्राय आप ये कहेंगे हम ऐसा बोलते हैं जन परीक्षण करके देख लो सतर्क फर्क बोलते हैं चाहते हैं व्यक्ति जब सत्या सत्य को ठीक नहीं जानता वेदों के अनुसार विधि विधान को नहीं समझता ऋषियों की परंपरा को नहीं मानता और उस स्थिति में ये व्यक्ति कहने का अभ्यासी बन जाता है कहता रहता है बोलता रहता है और स्थिति इसकी वो ज्योति की क्यों बनी थी इसको हम कैसे हटाते हैं हम ये समझते हैं यदि मैं वाणी से कहता हूं पूर्व सत्य है तो मैं क्यों नहीं करता इस पर जोर देना ही पड़ेगा अन्यथा व्यक्ति की संज्ञा क्या पड़ेगी बुरा क्या पाठ है अन्यत वचसी अन्यत कर्मणि अन्यत दुरात्मा ये दुरात्मा का व्यवहार मनसी एकम वचसी एकम कर्मणी एकम या तो महात्मा बन जाओ या <coughs> अधिकतर तो लोग बीच में होते लोगों की चर्चा नहीं करते अपनी चर्चा करते प्रातः काल मैंने बताया था अपने पसीने में करो दूसरों के गीत मत गाओ <laughs> हम तो स्वयं से पूछते हैं हमारा ईश्वर का सीधा संबंध है हमें हमारे मित्रों की रक्षा करो परमात्मा भाई मित्रों की रक्षा तो करें पहले तो ये देखो भगवान के सारे प्राणी मित्र हैं या नहीं तो जब वो ये कहेगा कि मित्रों की रक्षा करो तो उससे सबसे पहले तन मन धन से मित्रों की रक्षा करनी पड़ेगी आपको फिर प्रार्थना के बाद अधिकारी बनेगा सत्य स्तुति करने वाले की रक्षा करो सत्य स्तुति करने वाले उनकी रक्षा करो आपको सत्य बोलने मानने वालों की रक्षा पहले करनी पड़ेगी तब कहना कि सत्यवादी की रक्षा करो आजकल तो किसी को यह पता चल जाए ये सदा सत्य बोलता है तो उससे बचना चाहते हैं <laughs> बताओ ऐसा है या नहीं ये सब जगह ऐसे मुंह खोल के बात करेगा वह की वह बताएगा <laughs> और ऐसा करने से हमारा देवालिया नहीं <laughs> अच्छा आपसे कोई ये पूछे कि आप कहते हैं सत्य बोलने वाली की रक्षा करो आप सत्य बोलते भी हो पहले मांग तो पीछे करना पहले बोलते या नहीं बोलते तो बुरा नहीं समझना आप जो सदा सत्य बोलते हो मानते लिखते हो बुद्धिपूर्वक कभी भी झूठ न बोलते हो हाथ खड़ा करो विद्वानों को छोड़ो आप करो जितने हो सत्संगी एक न प्रयास प्रयास की बात नहीं है तो जब ऐसी स्थिति है तो आप ईश्वर से क्या प्रार्थना करोगे हे भगवान सत्य स्थिति करने वाले की रक्षा करो पहले सत्य बोलना आरंभ करो प्रयास करो और फिर प्रार्थना करो देखो कम से कम अपने घरों में सत्य बोलना प्रारंभ करो और अपने पुत्र पुत्रियों को सत्य बोलने का अभ्यास कराओ इसका तो संकल्प भी ले सकते हैं आप भाई घर में तो हम पति पत्नी माता पिता भाई बहन और बेटा बेटी सबके सामने सत्य बोलेंगे लिखेंगे बाहर की बात थोड़ी देखते छोड़ो ऐसा तो कुछ तैयार होंगे आप में से या नहीं इतना तो कर लोगे ना हाँ, हाँ। जी हाँ, <laughs> अच्छा जो करेंगे तो हाथ खड़ा करके दिखाओ <laughs> हाँ, ये तो ठीक है अब घर से प्रयास करो कालांतर में में सफलता जब मिलने लगती है तो फिर पड़ोस में व्यक्ति इस काम को करना आरंभ करता है उसके पश्चात वो समाज में धीरे धीरे प्रवेश करता है समाज के क्षेत्र में सत्य का पालन फिर आगे चल के बड़े राष्ट्र के लंबे ऊंचे क्षेत्र में वो ऐसा प्रयोग करता कालांतर में वही व्यक्ति भूगोल में पूरे भूगोल में सत्य बोलने में सफल हो जाता और फिर कहता है भगवान सत्य बोलने वाले की रक्षा एक बात इसमें ये आई है कि हे ईश्वर हमारे मित्रों की रक्षा करो सत्य बोलने वाले की रक्षा करो पर हजारों लोगों को ये समझ में नहीं आता भगवान रक्षा के लिए लगता नहीं आता समझ एक व्यक्ति सुना रहे थे हम सुनते रहते हैं एक मंदिर की यात्रा कर रहा था जंगल में जा रहा था एक चोर ने उसको घेर लिया और जैसे चोर ने घेरा एक सांप निकल के आया और उसको काट डाला बेहोश हुआ जैसा भी हुआ और वो यात्री तो बताओ जनक रक्षा हाँ इसमें हाँ। प्रेरणा की ना साप को नहीं यही मानते हैं ठीक है अभी अभी विमान दुर्घटना हुई हिमाचल प्रदेश में और एकाध को छोड़ के सारा परिवार उनकी रक्षा भगवान ने नहीं क्योंकि मारना था <laughs> अब लोगों को कुछ समझ में नहीं आता पराय ईश्वर रक्षा करता है नहीं करता करता है तो उसको बेतुकी स्थिति से बनाते हैं अब ये कितने लोग हैं बस दुर्घटना मर गए अभी गुरुकुल जिधर के ब्रह्मचारी से आया ठेला और तीन युवक ब्रह्मचारियों का विनाश कर गए अब रोज की घटना है तो बस दुर्घटना में कुछ मर गए और कुछ जी गए कुछ ये चोट ही नहीं लगी बताओ क्यों नहीं लगी चोट है चोट क्यों नहीं लगी उसको कुछ तो मर गए किसी की टांग टूट गई किसी को कुछ बाल बाल भी बच गया वो क्यों बच गया आप बोलो नहीं अनिश्चित है किसी को लगती है किसी को लगने गए तो बच भी जाए इसमें किसी तो क्रिया परिणाम हाँ आपका नाम क्या है जी सुशील सुशील जी को कहते ये सारी बातें ईश्वर करता मैं ईश्वर कृपा मानता हूँ हाँ वही की बात कृपा कह दू घबराना नहीं आपके मतवाना मेरा नाम क्यों दे दिया याद उससे सोचना है देखो ये जितनी घटना होती है इसमें ईश्वर का सीधा हाथ कुछ भी नहीं होता चाहे बस दुर्घटना हो चाहे रेल की हो चाहे विमान की हो जितनी भी होती है ईश्वर का कोई संबंध नहीं है घटनाओं से ऐसे ईश्वर रक्षा नहीं करता ईश्वर की रक्षा की पद्धति बिल्कुल दूसरी है ईश्वर की रक्षा अपने नियम है मनुष्यों का जहां तक क्षेत्र है उसमें परमात्मा कोई बाधा नहीं डालेगा कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा बस चलाने वाला शराब पी के चलाए पाए चलाए गाय चलावे ईश्वर उसको बिल्कुल नहीं रोक प्रसंग यह है वो दुर्घटना घटी किसी को चोट लगी मर गया किसी के हाथ पैर टूटे किसी को कुछ भी नहीं इसका उत्तर यह है क्रिया भेद से परिणाम होता है जहां क्रिया होगी वहां चोट लगेगी जहां क्रिया होगी नहीं वहां चोट नहीं लगेगी और जहां क्रिया तीव्र गति से होगी वहां अधिक चोट लगेगी मंद गति से होगी वहां हमारे मर्म स्थान माने जाते हैं विशेष आयुर्वेद में मर्म स्थान को वही चोट लगेगी तो मर जाएगा व्यक्ति और मजबूत जगह पर लगेगी तो व्यक्ति को तो मौत नहीं होगी ये मर्म स्थानों की बात है चोट लगी एक दिन एक व्यक्ति था उल्टी सीधी बात करता हरियाणा की घटना शराब नहीं रहा था एक आर्य समाजी विचार का युवक था उसने भी ढेला मार दिया वहीं खत्म मर्म स्थान पर लग गया मर गए मुकदमे चले जैसे ही होते तो ये मर्म स्थान को वही चोट लगे मर जाएगा नहीं लगे तो कई बार डर से ही मर जाता है मन कमजोर हो मन कमजोर लिखा हो मर जाएगा और नहीं होगा तो समझे कितनी बातें समझ में आ गई तो इसलिए यहां पर ईश्वर का कोई संबंध नहीं है कुएं में दो व्यक्ति कूदे एक कूदते समय ऐसे टेढ़ा होगा दीवार को टकरा गया सिर फट गया मर गया एक सीधा पानी में जा गिरा वो जीवित रहेगा जी रहेगा क्यों क्योंकि इसको टक्कर लगी ये क्यों बचाइए सीधा गिरेगा नहीं नहीं भगवान ने बचाया दोनों को क्यों नहीं बचाया भगवान ने वो बताता तो उनको बता देता अच्छा उनको मारना था अच्छा जब आतंकवादी मारते थे ये भगवान नहीं मरवा रहे तो मारना है जिसको मारने देता है नहीं मारना होता उनको बता देता तो ये बात ऐसी ध्यान दो थोड़ी सी बात अब ये लंबा विषय है और कुछ समझ में आ गया ध्यान देना ये जो सारा संसार दिख रहा है आपको इसमें जो व्यवस्था दी है ईश्वर ने और हमारे शरीर में जो व्यवस्था दी है हम ईश्वर की ही सहायता से जीवित हैं ये है ईश्वर की रक्षा क्या समझ में आया कैसे रक्षा करता है सृष्टि की रचना के माध्यम से विविध प्रकार के पदार्थों से हमको ज्ञान भी ज्ञान भी दिया है हमारे शरीर की रचना ऐसी की है ईश्वर ने हम जीवित रहते हैं खा लेते हैं हमको कुछ पता नहीं क्या हो रहा है अंदर हमारा शरीर अलग अलग धातुओं से सुरक्षित है हम नहीं जानते कुछ भी इसलिए ये रक्षा ईश्वर की रक्षा है ईश्वर की रक्षा है एक और है ईश्वर की रक्षा एक अंश ये बुराई करने की योजना बनाता है व्यक्ति उसमें परमात्मा भय शंका लज्जा पैदा करता है जैसे कि पिता पुत्र को कहता है बेटा ये काम बुरा है इसके परिणाम बुरे होंगे वो सुनता है तो उसका कल्याण हो जाता है नहीं सुनता तो परिणाम भोगने पड़ते ईश्वर की रक्षा का बात सुना क्या सुना इतने लक्ष्य में था जब वो बुरी योजना बनाता है तो भय शंका लज्जा पैदा करता है वो ध्यान से सुने ध्यान देवे व्यक्ति को तो पता चलता है और वो व्यक्ति बच जाता है दूसरे वर्ग में जब अच्छे काम के लिए योजना बनाता है ईश्वर आनंद उत्साह बढ़ा देता है और वो बड़े जोर से उस काम को करता है ये इसकी रक्षा जो जीवात्मा विधि पूर्वक ईश्वर की उपासना करता है ध्यान देना ईश्वर क्या करता है उसके अज्ञान को नष्ट कर देता है अज्ञान का नष्ट होना और ज्ञान की प्राप्ति करवा देता है जीवात्मा अज्ञान के कारण से जितना अनर्थों को प्राप्त होता उससे बच गया ज्ञान के मिलने पर जीवात्मा ने महान कार्य किए ईश्वर की रक्षा से बच गया हम जो जितने भी अच्छे काम कर पाते हैं इंजीनियर हो प्रोफेसर हो वो किसके माध्यम से हमारा रक्षा करते हैं अपनी करते हैं ज्ञान के माध्यम से करते जितने बांध बने विमान बनाए कहीं चले जाइए आप ज्ञान के माध्यम से ये रक्षा सारा विश्व रक्षित है ज्ञान के माध्यम से ईश्वर रक्षा करता है अज्ञान का नाश करके ईश्वर रक्षा रक्षा करता है हम विधि पूर्वक ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो ईश्वर हमको सत्य के ऊपर चलने का बल देता है अर्थात हम ईश्वर की सहायता से सत्य पर चलते हैं सत्य को जान लेते हैं तो सत्य पर चलने से हमारी रक्षा होती है और यदि ईश्वर हमको सहायता में देवे तो हम असत्य पर चलते हैं तो असत्य पर चलने से हमारा विनाश होता है हम दुखी हैं दिन रात राग देश सताते हैं याद रखना जैसे राग देश सताते हैं व्यक्ति के उनसे बचने के लिए उल्टी सीधे काम करता है जनवर अब जब ईश्वर की आज्ञा का पालन करता तो भगवान इसको आनंद से परिपूर्ण कर देता है जब आनंद मिल जाता है तो ये उल्टे कर्म करने दिन भर काम करो तो लोग जो आक्रमण करते हैं उनसे भगवान आनंद दे के हमारी रक्षा करता है हम आनंदित हैं सुखी हैं तो बुरे काम नहीं करेंगे भूखा मरता हुआ व्यक्ति अधिक बुरे काम करता है दुखी व्यक्ति बहुत अधिक बुरे काम करता है ईश्वर से जब आनंद मिलता है तो हम बुरे काम बिल्कुल छोड़ देते हैं इतना ही नहीं हम दूसरे के दुख को अपने ऊपर ले लेते ऋषियों के जीवन को देखो दूसरों को सुख देने के लिए सुख दुख उठा करके भी उनके अपने जीवन को झोंक देते हैं इतनी रक्षा ईश्वर के माध्यम से होती अब समय आगे बढ़ गया और एक बात और सुन लो बुरे लोगों को दंड देता और अच्छे लोगों को पारितोषिक देता उनको सुअर गदा घोड़ा बना देता है जो दुष्ट कर्म करते और अच्छे मनुष्यों को मनुष्यों बनाता न्याय के माध्यम से ईश्वर रक्षा करता है अच्छा राजा न्यायकारी राजा दुष्टों को जो उचित दंड देता है और अच्छे लोगों